thank you all for participating in the SRG Housing Finance Limited 3Q 9-month FY19 earnings call. Today, from the management side, we have with us Mr. Vinod Jain, Managing Director, Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer, and Ms. Sunaina Nagar, Chief Investor Relation Officer with us. Sir, now I will hand over conference to Mr. Vinod Jain for giving the opening remarks regarding the industry growth, and then we will discuss the quarterly performance. Post that, we will have the Q&A session. Over to you, Vinod, sir. आप सभी पार्टिसिपेंट्स का सबसे पहले स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में समय निकालकर आप सब लोग आए मैं आप सभी का क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर अट्ठारह उन्नीस के अर्निंग कॉल में स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल ईयर अट्ठारह उन्नीस के तीसरे क्वार्टर में डेट कैपिटल मार्केट में तरलता एवं अस्थिरता का उच्च स्तर रहा है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी हिस्ट्री में ऐसा कोई भी लोन किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर हो कंपनी एएलएम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए शुरू से ही एलएम पॉलिसी को कड़े रूप से फॉलो कर रही है जिसकी वजह से लैंडर्स के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की एक मजबूत और विश्वसनीय छवि बनी है इस क्वार्टर में पर्याप्त लिक्विडिटी की वजह से डिसबर्समेंट कंटिन्यू रहे थे आज हाउसिंग ने बोरवर्स को लोन देना कभी भी बंद नहीं किया फाइनेंशियल ईयर अट्ठारह उन्नीस के क्वार्टर थीम में डिस्बर्समेंट हमने 3.78 करोड़ एवं नौ माह के दौरान 2.18 करोड़ रहा है वहीं लाइबिलिटीज की तरफ हमने क्वार्टर थ्री में तकरीबन 40 करोड़ बैंक एवं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से प्राप्त किए हैं हम अब आप बात करते हैं क्वार्टर थ्री क्वार्टर थ्री की इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर में पिछले क्वार्टर से ज्यादा इस क्वार्टर में कंपनी ने healthy double digit growth registered किया है नेट इंटरेस्ट इनकम आठ पॉइंट पैंसठ करोड़ पिछले वर्ष आठ पॉइंट पैंसठ करोड़ बहत्तर पॉइंट पैंसठ प्रतिशत से बड़ी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा पेट है वो four point seven nine crore रहा है इस तरह से 108.26 प्रतिशत पिछले वर्ष से हमारा बढ़ा है क्वार्टर थ्री में loan spread double one nine eight BPS एवं नेट इंटरेस्ट मार्जिन 301 बीपीएस रहा है कंपनी ने अठारह उन्नीस के नौ माह के दौरान पिछले 17-18 से डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर्ड की है हम अब बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के नौ माह के दौरान पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने लोन फाइल्स में 6.6 प्रतिशत बढ़ोतरी रजिस्टर्ड की है डिसबर्समेंट पिछले वर्ष के नौ माह के दौरान नब्बे अड़सठ करोड़ रुपए था जो अब दस पॉइंट पांच प्रतिशत ग्रोथ रजिस्टर करते हुए इस अवधि में हमने तकरीबन सौ पॉइंट अठारह करोड़ रुपए का हो गया है एयूम 31 दिसंबर 2018 को पिछहत्तर प्रतिशत ग्रोथ के साथ 271 रुपए करोड़ हुआ है हमने इस क्वार्टर में चार नई तीन नई ब्रांचें मध्य प्रदेश में शुरू की है जो आष्टा धार और इंदौर चालू किया है हाउसिंग लोन एयूम का तिहत्तर पॉइंट चार प्रतिशत एवं नॉन हाउसिंग लोन छब्बीस पॉइंट छह प्रतिशत हुआ है इस वर्ष जो डिस्बर्समेंट इस क्वार्टर में जो डिसबर्समेंट थोड़ा पिछले वर्ष से जो कम हुआ है उसका रीजन राजस्थान और एमपी दोनों में चुनाव था तो एक महीने डेढ़ महीने तक गवर्नमेंट को जो भी हमारी रहती है वहां से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं रजिस्टर्ड मोर्गेज वगैरह करते हैं वो एक्टिविटी हमारी बंद रही इसलिए हमारा डिसबर्समेंट थोड़ा कम रहा हाउसिंग हाउसिंग लोन सेगमेंट में एयूम का सत्तर पॉइंट चौवालीस प्रतिशत इंडिविजुअल हाउसिंग लोन एवं 2.96 percent construction finance for residential property रहा है इस तरह से हमारा 31 दिसंबर 2018 को ग्रोथ एनपीए हमारा 1.72 प्रतिशत रहा है एवं नेट एनपीए पिछले वर्ष हमारा 0.64 प्रतिशत रहा था उससे घटकर नेट हमारा एनपीए पॉइंट प्रतिशत रहा है हमारा बोरोइंग मिक्स सेवन प्रतिशत एनसीडी और तिरसठ पॉइंट अठारह प्रतिशत बैंक लाइन 1.7 प्रतिशत एनएचबीडी फाइनेंस एवं 27.17 प्रतिशत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रहा है इस तरह से हमारा बोरिंग जो है पूरा मिक्स है हमारा कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है कोई भी सीपी नहीं है 31 दिसंबर 2018 को capital adequacy ratio tier one capital का उन्तीस पॉइंट तेरह प्रतिशत एवं टायर टू कैपिटल का जीरो पॉइंट फोर एट प्रतिशत रहा है हमारे ग्रोथ प्लान की श्रृंखला में कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट ऐसा सृजन आरंभ किया है जो कि एक कदम रहेगा पूरे कंपनी के प्रोसेस को पुनर्गठन करने का एमएमसी के साथ सिस्टम को चेंज करने का जो कि कंपनी को बदलते वातावरण से कुशल कार्यशैली के साथ अच्छे प्रबंधन में मदद करेगा अब आप मुझसे कंपनी के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं वो पूछ सकते हैं अगर हिंदी में पूछेंगे तो अच्छे से जवाब दे पाऊंगा Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Hiral Desai from Anvit PMS. Please go ahead. Hello हाँ जी हाँ जी बोलिए विनोद जी कैसे हो बस हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया बोल रहा हूँ देखो एक्चुअली दो तीन क्वेश्चंस uh, थे एक तो मैं आपके प्रेजेंटेशन को देख रहा हूँ स्लाइड नंबर आठ पर हम्म। तो उसमें ये जो ब्रेकअप दिया है आपने जो लोन बुक का uh, वो डिसबर्समेंट का ब्रेकअप है कि बैलेंस uh, शीट का ब्रेकअप है as of Q three of F Y nineteen ये जो इंडिविजुअल होम लोन लैप और प्रोजेक्ट uh, लोन का जो ब्रेकअप दिया आपने डिस्बर्समेंट का ब्रेकअप है ये डिस्बर्समेंट का ब्रेकअप है डिस्बर्समेंट हाँ, का breakup as of now balance sheet पे लैप का प्रोपोर्शन कितना होगा डिस्बर्समेंट का नहीं जो बैलेंस शीट पे अभी ओपन लोन है उसमें twenty six percent sorry twenty six percent और विनोद जी ये लैप लोन जो है इनका मतलब नेचर क्या होगा और टिपिकल इसमें यील्ड क्या होती है अपने लिए नील्ड वही अपना हाउसिंग लोन से एक दो परसेंट इसमें ज्यादा ही अपन इंटरेस्ट लेते हैं और ये okay. जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसी पर अपन लैब करते हैं तो मकान ये उसके बिजनेस यूज के लिए होता है जिस प्रॉपर्टी पे लोन करते हैं उसको लेब बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला नहीं नहीं पर ये उनके बिजनेसेस में यूज करते हैं मतलब क्या चीज के लिए लोग यूज करते हैं ये बिजनेस के लिए लोग यूज करते हैं ओके और दूसरा मैं को ये पूछना था ये जो बोरोइंग का ब्रेकअप है अब उसमें एनएचबी का शेयर काफी कम है तो एनी स्पेसिफिक रीजन कि एनएचबी का शेयर इतना कम है बिकॉज अपना तो प्रीडोमिनेटली पूरा बुक क्वालिफाई होता होगा एनएचबी रिफाइनेंसिंग के लिए एनएचबी में जो अपना एक प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा इनका एक महिलाओं का चलता है जिसमें साढ़े तीन परसेंट का इनका केप है जो लोन रेट तो देते हैं उसमें साढ़े तीन परसेंट आप एड करके उससे ज्यादा आप मार्केट से ले नहीं सकते बराबर है तो वो हमने ले नहीं रखा है उसकी वजह से दूसरा फ्री फ्लोटिंग वाला जो है उसके लिए हमने अप्लाई कर रखा है तो जिस कंपनी में अगर वो है तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलती है अपने को थोड़ा बाद में मिलता है तभी फ्री फ्लोटिंग में हमने लगा रखा है तो मेरे हिसाब से मार्च में हमको वहां से रिफाइनेंस मिल जाएगा और विनोद जी अपना कॉस्ट क्या होता है जो फ्री फ्लोटिंग लोन्स मिलती है अपने को एनएचबी में से पर पहले तो हमको एट के आसपास हमको मिला था अभी रेट कुछ बढ़ के नौ साढ़े नौ परसेंट करीब एनएचबी ने भी कर दिया बढ़ा दिया है रेट अभी फ्री फ्लोटिंग में ओके ओके और अपनी इंक्रीमेंटल बोरोइंग कॉस्ट क्या है मतलब स्पेसिफिक अगर आप बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर मेरे को दोनों का बता पाए तो रफली हमारा जो देखो पहले जो था हमारा जो एवरेज हमारा कॉस्ट थी वो साढ़े दस परसेंट करीब थी अभी हमारा जो है वो एक परसेंट करीब बढ़ा है तो एवरेज क्या है कि जो बैंक से पुराना है उसमें पॉइंट फाइव जीरो के आसपास पड़ा है तो और अभी जो नया मिल रहा है वो ग्यारह परसेंट सवा ग्यारह परसेंट के आसपास हमको मिल रहा है ओके ओके और ये आपको लगता है मतलब जैसे ये लिक्विडिटी एनवायरमेंट थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा by the end of the year तो ये बोरोइंग कॉस्ट आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी बिकॉज जनरली इन्फ्लेशन भी काफी बिनाइन है तो the talk is that the rates will actually go down देखो अभी अपन ज्यादा कम की उम्मीद तो नहीं करते हैं लेकिन ग्यारह परसेंट के आसपास ही रहेगा ग्यारह सवा ग्यारह ग्यारह सवा ग्यारह के आसपास रहेगा okay okay sir generally Rajasthan और एमपी में डिमांड uh, एनवायरनमेंट कैसा है जैसे आपने बोला ऑब्वियसली इस, क्वार्टर तो इलेक्शंस था और ये फिर से यू नो मे में अभी सेंट्रल इलेक्शन आएंगे तो डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है मतलब जो, जो नंबर ऑफ फाइल्स अपने पास आ रही है अभी भी वो मोमेंटम स्ट्रांग है उस पर uh, कुछ uh, बात कर पाए तो अगर नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि डिमांड की तो कोई प्रॉब्लम्स पहले भी मार्केट में नहीं रही थी और अभी भी मार्केट में डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है सप्लाई की तो जैसे जो दूसरी कंपनियों ने जो कमिटमेंट कर लिए पिछले दो तीन पिछले क्वार्टर में और वो डिस्बर्समेंट कर नहीं पाई तो वहां से लोग आना तो अपने पास में चाह रहे हैं लेकिन वहां से क्या होता है फाइल प्रोसेस कर चुके हैं उनको सैंक्शन लेटर दे दिए हैं डिसबर्समेंट हो नहीं पा रहा है तो उसमें आने में थोड़ा समय लग रहा है उनको बाकी बिजनेस की ऑलरेडी भी वैसे भी परेशानी नहीं है तो अपना क्वार्टर फोर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा क्यों अपने को न लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है न दोनों चीजों की प्रॉब्लम है और बैंकिंग का जो नजरिया था लोन करने का बराबर एफसी और एचएफसी को ऐसा नहीं है पूरे मार्केट में एक सीनियर एक पे एनबीएफसी को लोन नहीं मिल रहा है वो नहीं है मैंने पिछले क्वार्टर में भी चालीस करोड़ रुपया करीब मेरे को फंड मिला है पैसा मिला है इसमें मेरे को आंध्रा बैंक ने भी मेरे को पंद्रह करोड़ दिए हैं जबकि आप देख लो आंध्रा बैंक का कोई है नहीं तो उन्होंने तो फोकस वो नहीं है कि सभी को एक जैसे तरीके से देखा जाता है जबकि मेरी रेटिंग्स भी तिरबल भी है और उनकी बड़ी कंपनियों की रेटिंग्स भी ज्यादा थी तो अभी खाली हर बैंक अलग अलग तरीके से अपने देखता है इनका एल एम मिसमैच तो नहीं है कितने टाइम से कैसे है हमारा जैसे एल एम का आप बताऊं मैं आपको हमारी अभी तक हमने जितनी बोरिंग ले रखी है उसका लास्ट ई एम आई दो हजार पच्चीस में है ओके ओके तो वहां तक हमारा न तो ईयर ऑन ईयर हमारा कोई मिसमैच है और न ही हमारा मंथली कोई मिसमैच है और सर इसका एवरेज टेन्योर क्या होगा पूरे पूरी जो बोरोइंग है अपनी करीबन 240 करोड़ की उसका एवरेज टेन्योर क्या होगा हमारा साढ़े छह साल का रहता है एवरेज आता है वो ओके सर दूसरा लास्टली ये जो कैपिटल रेज अपन प्लान कर रहे हैं अब मोस्टली तो ऑब्वियसली अगले साल के इलेक्शन के बाद होगा बट स्पेसिफिक अमाउंट है आपके ध्यान में जो आप रेस करना चाहोगे सर अभी हमारा जो है अभी पचास करोड़ के आसपास हम जो है वो एफपीओ तो का हम तैयारी कर रहे हैं मर्चेंट बैंकर हमने कर भी दिया है फाइनल कर चुके हैं मर्चेंट बैंकर को डीआरएचपी हमारा पंद्रह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा डीआरएचपी और उसको फिर हम फाइल भी कर देंगे सेबी में तो सेबी की परमिशन आने में उनको दो तीन महीने लगेंगे और लास्टली एक समझना था आपसे कि अपनी अभी ट्रिपल बी रेटिंग है तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म तो ऐसे साढ़े बारह टका की है बट जनरली ये रेटिंग एजेंसी क्या प्रिस्क्राइब करते हैं अपने लिए मतलब कितना कार होना चाहिए अपना नहीं एक्चुअल में क्या रेटिंग एजेंसी का पैरामीटर ही बहुत अलग है अब जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है उसका कोई कंफर्ट लेटर, लेटर अगर उन्होंने ग्रुप का दे दिया तो आज आज कंपनी बनती है तो उसको त्रिबल ए रेटिंग मिल जाती है डबल ए रेटिंग बराबर बराबर है रेटिंग एजेंसी का अपन नहीं कह सकते उनका क्राइटेरिया किस तरह से है ठीक है वो किस तरह से एक्चुअली जैसे ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो आ, कुछ बोलते हैं कि मतलब बीस टका पच्चीस टका कैपिटल एडिक्वेसी रहनी चाहिए या ऐसे कुछ कॉन्वर्जेशन होता है नहीं नहीं नहीं, नहीं उसमें पंद्रह परसेंट करीब रहता है उनका अच्छा ओके ओके ठीक है sir thank you all the best और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है काफी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है तो लास्ट दो तीन क्वार्टर से मैं यू नो ऑब्वियसली था नहीं तो आपसे बात नहीं हो भाई but all the best Okay, thank you, thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Apurva Mehta from EM Investments. Please go ahead. Vinodji, congratulations on uh, very good numbers. Thank you, thank you, भैया. सर uh, बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और सर आपने टारगेट थोड़ा रिवाइज करके 325 करोड़ का किया हुआ है जी जी जी Sir, we are currently at 271 crore of loan book. So, can you achieve that 55 crore of, you know, loan book growth uh, because you have to have a disbursement of close to 75 crore or plus. तो ये अचीवेबल है टारगेट बिकॉज ऑलमोस्ट आप हाफ द वे तो पहुंच गए तो आपको रन रेट भी मालूम ही रहेगा एक्चुअल में सर मैंने कोई भी जो प्रेजेंटेशन पिछले आप मेरी हिस्ट्री भी देख लेना जो मैं अचीवेबल हो पाता है वही वर्किंग करके ही हम uh, उसमें डालते हैं okay, okay. तो हम ये कर पाएंगे okay. Okay. और उसके साथ साथ हमको दोनों चीजें देखना पड़ता है हमको पैसा लाना भी पड़ता है और पैसा देना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है बराबर कोई भी हम फिगर नहीं देते हैं जो हमको अचीवेबल नहीं हो पिछले हमने पिछले वर्ष में भी हमारा जो क्वार्टर फोर था उसमें हम्म। तकरीबन पचपन करोड़ के आसपास हमने डिसबर्समेंट किया okay okay okay okay okay जी सर सर ये अभी सोर्सिंग के लिए आप बता रहे थे कि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन day by day sir situation थोड़ी वो गंभीर होती जाती है means it is becoming very difficult to you know explaining so are we still comfortable enough to get money और क्या या आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है पहले एक ही बैंक देता था अभी दस बैंक के पास जाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा मिलते थे ऐसा कुछ है या अभी आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है नहीं नहीं देखो एक्चुअल में क्या है जो मार्केट में जब सीनियर होता है ना तो अपने आपको बैंकर से मिलना भी ज्यादा पड़ता है और उनको प्रेजेंट भी करना पड़ता है कि भाई हम कंफर्टेबल है हमारी कंपनी ये पोजीशन है ये चीज अगर अपन उनको नहीं बताएंगे तो उनको कैसे मालूम चलेगा भाई एहसास भी अच्छी है बराबर बराबर तो हमको क्या है मिलना तो सबसे पड़ेगा ही पड़ेगा और मिलने के बाद में उनको जब बताते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो रूम खाली होगा हमारा स्पेस होगा तो हम सबसे पहले आपको हम देंगे तो वो हमको हमको सपोर्ट भी मिल रहा है और साथ ही काफी चीजें हैं अभी भी मेरे पास में इस क्वार्टर के लिए भी मेरे पास अभी नए सेंक्शन हुए मेरे पास साढ़े सत्रह करोड़ के ओके ओके ग्रेट, ग्रेट, वो वो बिल्कुल रहता है सर मतलब बैंक का ऐसा नहीं पूरा हंड्रेड ही परसेंट नेगेटिव है आपने को सब दिखता है कौन सी कंपनी कहाँ काम कर रही काम नहीं बराबर बैंक भी आज की तारीख में हम बैंकर से कल भी मिले परसों मिले तीन दिन से मैं मिल ही रहा हूँ हम्म। ऐसा नहीं बैंक कोई पूरा हंड्रेड परसेंट नेगेटिव हो गया ठीक है इतनी कंपनी में अगर दो तीन कंपनी को चार कंपनी में प्रॉब्लम है तो हाँ। पूरा मार्केट ही खराब है और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस कंपनी से और उससे अच्छा कहा है डेवलपमेंट ही इंडिया का रुक जाएगा ना तो सपोर्ट सब्जेक्ट से मिलते हैं वो है लेकिन क्या है बैंक का खुद का मीन्स उसके हाथ बंधे हुए because they have their own capital adequacy ratio का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो लोग भी अटके हुए आपको देना भी चाहते हो तो बहुत बार वो लोग दे नहीं पाते क्योंकि उन लोग का कैपिटल एडुकेसी है ही नहीं ऐसा हो जाता है सब सभी बैंकों के साथ में नहीं कुछ कुछ बैंकें हैं हाँ। जिनमें जैसे नया पीसी से निकला वो बैंक इंटरेस्टेड है हाँ। हमने प्रपोजल लगाए हैं जो चीजें हैं आगे मूव भी हुआ है और ब्रांच से जीएम लेवल पे भी आया और ऊपर भी मूव हुआ है सर ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की जो बात कर रहे हैं आपने नया कुछ revamping of the project SRG करके सर उसके लिए कोई डिटेल में बताइए sir what is this exactly mean हम लोग समझ हमारा चेन्नई का कंसल्टेंट है उनके साथ में हमारी पूरी टीम मिलके हम पूरा सीजन में ऐसा कर रहे हैं पूरा हमारा जो एआरपी सिस्टम बना हुआ है उसका पूरा रिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं ओके और पूरा कंपनी का जो हमारा हायर की है सिस्टम है ग्रोथ है प्रोसेस है उन सब चीजों को कर रहे हैं अभी ओके सो so, वो वो उससे क्या फर्क गिरेगा means what is what will be date ये इम्प्लीमेंट कर सके क्या फर्क गिर सकता है मीन्स फर्क गिर सकता है जो आपका प्रोसेस जो आपका चल रहा है उसको अपन और कैसे अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें हम्म, हम्म, हम्म। उसके लिए चीजें होती है आरपी सिस्टम है अभी नया जैसे हमारा तीन साल का हमारा हजार करोड़ का लोन बुक का टारगेट है उस समय तक आपका ईआरपी सिस्टम सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है चीजें हैं कहाँ गैप है जो अपने तीन साल बाद की जो चीजें हैं उसको हम पहले से अभी से तैयारी कर रहे हैं जिस समय हम आगे बढ़े तो समय में पीछे ये नहीं देखना पड़ेगा अपना सिस्टम ठीक नहीं है अपना प्रोसेस ठीक नहीं है अपना एचआर हर हायर सिस्टम ठीक नहीं है वो चीजें तो उस पर भी हम वर्किंग कर लेंगे वर्किंग कर लेंगे तो हमको फिर तीन साल तक हमको देखने की जरूरत नहीं रहेगी सर अपना because we are growing at very high pace और ये बढ़ रहे हैं सर अपना बोर्ड एक्सपांशन के लिए कुछ प्लान है कोई अच्छे बोर्ड पे लेके आए जिससे यू नो अगर रेटिंग भी सुधर सके बैंकर्स को कॉन्फिडेंस आए ऐसा कुछ प्लान है कि दो तीन अच्छे लोग को बोर्ड पे लेके आ सके और you know it looks much much bigger board and diversified board को एक्सपर्ट्स को लेके आ सके ऐसा कुछ प्लान है सर ऐसा भी देखो वैसे भी ऑलरेडी हमारी कंपनी में कुछ uh, जो पुराने बैंकर्स हैं चार से पांच लोग बैंकर्स हमारे हर डिपार्टमेंट में है जैसे हमारा कलेक्शन डिपार्टमेंट में दो बैंकर्स हैं क्रेडिट हाँ। में हमारे दो बैंकर्स हैं ये हम्म। अकाउंट्स में है इलेक्शन में पूरा बैंकर जो देखा है पूरे ऑलरेडी हमारे पास में एक्सपर्ट टीम है हाँ। आप जानते हैं जब छोटी कंपनी होती है तो बोर्ड पे बड़े लोग आना पसंद करते नहीं करते उसके लिए थोड़ा समय लगता है एक्सपर्ट्स भी आते हैं आप भी जानते हैं उनके किस तरह से उनकी डिमांड सब चीजें रहती है तो जैसे कंपनी जैसे बढ़ेगी और एक्सपर्ट को जरूरत है अब अभी अपने को हजार करोड़ की लोन तक जो अपने को एक्सपर्ट चाहिए वो आज एज अपनी टीम में है ठीक है बराबर जिस उससे ऊपर जाना है तो ऐसी टीम लेंगे तो समय समय पे जो भी परिवर्तन करना है जिन लोगों को अपने को टीम में लेना वो बिल्कुल लेंगे बोर्ड में भी चेंज करेंगे सब चीजों में चेंज करेंगे but you are open for that हाँ ओपन समय के साथ अपने को जो चीजें लेनी है वो चेंज करते रहते हैं sir sir any dividend plan this year to distribute some dividend opening कुछ सर मैं तो डिविडेंड देना चाहता हूँ लेकिन मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं hmm. बड़े हैं इन्वेस्टर्स हैं जो भी है वो कहता सर कि अगर आप फाइनेंस फील्ड में हैं तो आप कैपिटल को तोड़ के हमको डिविडेंड दे रहे हो तो हम तो ये चाहते हैं कि आप हमको भी डिविडेंड ना दे आपकी कैपिटल पे कितना आप लिवरेज कर सकते हैं और आप बिजनेस बढ़ा के दीजिए तो हमको बाद में आप डिविडेंड दीजिए ओके ओके इसलिए अपन सर स्टार्ट तो करने के लिए भी कुछ भी like you know with we starting with some ten percent type of dividend where you know you start मेरे हिसाब से तो ज्यादा कुछ है तो वो ये चीज के आप अभी मत कीजिए अभी आप रुकिए एक दो साल रुकिए okay okay okay thank you sir and wish you all the best thank you thank you sir Thank you very much. The next question is from the line of Ronak Raichura, individual investor. Please go ahead. Hello, sir. हाँ जी बोलिए uh, बोलिए बोलिए Sir, the line got disconnected. We have next question from the line of Tejas Shah from AK Capital. Please go ahead. Sir, good afternoon. Tejas Shah, AK Capital से. बोलिए बोलिए आ, सर दूसरे एसोसिएट ने तो कुछ सवाल पूछ लिए थे तो एक ही सवाल आपके लिए है आ, जैसे कि हमारा राजस्थान में तो काफी टाइम से हमने पैर जमाए हुए थे can you throw some light on performance about MP and Gujarat जहाँ पे हम रिलेटिवली रिसेंटली प्लेस्ड है सर बिल्कुल बिल्कुल सर एमपी में भी हमको एक डेढ़ साल करीब हो चुका है और गुजरात में भी हमारा जो है उसको भी एक डेढ़ साल करीब हो चुका है तो पैर जमाने वाली जो बात है बस फाइनेंस कंपनी में पैर जमा पैर कहीं भी अपन जमा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग अगर आपका प्रॉपर है तो हम इस हम किसी भी स्टेट में जाने के पहले पूरा वर्किंग करते हैं पूरा रिसर्च करते हैं हमको उस स्टेट में कहाँ कहाँ हमको ब्रांच डालनी है कहाँ कहाँ से हमको बिजनेस आएगा ब्रांच कितने एरिया में उसको बिजनेस को करेगी वहाँ पे कैसे कैसे लोग सेगमेंट है कौन सा नेगेटिव एरिया है कौन सा पॉजिटिव एरिया है कौन सी पॉपुलेशन में हमको प्रॉब्लम्स होगी नहीं होगी उसके लिए हम पहले एक महीने दो महीने तक हम उसका पूरा सर्वे करवाते हैं पूरा उसका रिसर्च करते हैं उसके बाद ही हम उस स्टेट में जाते हैं अगर बिना रिसर्च और बिना सर्वे किए हम ब्रांच तक भी हम नहीं डालते पूरी रिस्क अच्छा। मैनेजमेंट की टीम पूरी बनी हुई है वो पहले जाके उस पर वर्किंग करती है उसकी रिपोर्ट देती है उसको फिर हमारा सब टीम है मैनेजमेंट वो बैठ के उसको डिस्कस करते हैं फिर हम अप्रूव करते हैं फिर ब्रांच डालते हैं इसलिए हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी भी जगह आती नहीं है जो वर्किंग बाद में करनी होती है वो हम पहले एडवांस में करते हैं ओके okay, सर दूसरी बात जो हमारी लैंडिंग रेट तकरीबन ट्वेंटी परसेंट है So how do we uh, sustain this rate and maintain the quality with the competition in place? Competition तो इस market में है नहीं है कारण क्या है कि कंपटीशन वाला मामला तो इस मार्केट में है नहीं है जितना भी अपन फाइनेंस देना चाहेंगे आप आराम से देंगे मेन देता है क्वालिटी आपका क्वालिटी किस तरह से आप मेंटेन करेंगे आपका प्रोडक्ट कैसे रहेगा आपका प्रोसेस कैसे रहेगा इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास में क्रेडिट टीम कैसी है और आपके पास में भरोसे वाले लोग हैं नहीं तो हमारे पास में पूरे सीनियर लोग और पुरानी टीम है ठीक है तो रोज क्रेडिट को ढंग से करती है तो हमारा एनपीए लेवल भी इसीलिए हमारा नीचे रहता है मेन ये रहता है क्रेडिट और हमारा एलडीवी रेशियो जो पूरे पोर्टफोलियो का फोर्टी टू परसेंट है तो हमारा एलडीवी भी जो है फिफ्टी परसेंट से नीचे है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा होने की वजह से आदमी को ये नहीं लगता है कि एक्चुअल फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है जहां आपका प्रोसेस का टाइम कम होगा तो आपको क्लाइंट आपका मिलेगा और हम जिन लोगों को फोकस करते हैं तो दूसरी कंपनियां उन चीजों को फोकस करती नहीं है जी वो हम बिजनेस की भी हमको प्रॉब्लम रहती नहीं है ओके ओके जी सर जी sir thank you very much sir और अब ये प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया बनाया है थैंक यू थैंक यू आपको पसंद आ जाएगा तो आप मित्तल साहब को बोलना हाँ, जरूर sir thank you very much The next question is from the line of Vaibhav Kacholia from VK Capital Advisors Private Limited. Please go ahead. Sir मेरे को ये पूछना था अपने लोन्स में से कितना परसेंट ऐसे लोन्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर में क्वालिफाई होते हैं तो अपना हंड्रेड परसेंट बुक ही प्रायोरिटी सेक्टर में होता है क्यों अपना जितने भी जो एवरेज टिकट साइड अपना हाउसिंग लोन का पांच लाख रुपया है और प्रायोरिटी सेक्टर में अपना बीस लाख पच्चीस लाख रुपए तक कवर्ड होता है तो अपने जितने भी लोन है वो हंड्रेड परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर का ही पोर्टफोलियो ओके तो सर इसमें अपने को ये प्रायोरिटी सेक्टर होने के कारण बैंक कितना कम रेट देती है प्रायोरिटी सेक्टर्स में रेट तो सर एवरेज सबकी ये चलती है उसमें यह हमको प्रायोरिटी मिल जाती है कुछ एनबीएफसी है तो उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है हमारे पोर्टफोलियो को प्रायोरिटी मिल जाती तो हमको बैंक लोन जल्दी कर देती नॉर्मली सर सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोलती है कि प्रायोरिटी सेक्टर का रहता है तो 70 बिप्स कम रेट मिलता है compare to non priority sector रहता उसमें रेटिंग्स और उसमें पैरामीटर्स अलग अलग चलते हैं सर अब रेटिंग्स भी आपकी क्या है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है प्राइवेट सेक्टर में आपका कौन सा स्टेट है क्या है इसमें भी काफी स्टेट जो बैंक है बैंक ने भी देख लिया का इतनी फाइनेंस कंपनियों का कौन किस में एनपी किस कौन से स्टेट में ज्यादा रहा अगर उसका पोर्टफोलियो है तो भी आपको रेट ज्यादा लगती है तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं बैंक के राइट राइट और सर ये अपने को कंपटीशन कोई तो दिखता होगा ऐसा बैंक्स वगैरह कभी नहीं देते हैं अपन जिनको लोन देते हैं वही लोगों को बैंक्स कभी नहीं देते हैं अब एक्चुअल में क्या है आप देखोगे इंडिया में तीन परसेंट लोग बाग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं पहले दो परसेंट था मोदी जी के आने के बाद में एक परसेंट करीब एक डेढ़ परसेंट करीब बढ़ रहा है तो जो तीन से चार परसेंट लोग अगर अपने निकाल भी दे पूरे सिस्टम में तो सवा सौ करोड़ की जनसंख्या में चार परसेंट अगर आप बैंक और फाइनेंस कंपनी के लिए छोड़ दें तो 96 परसेंट मार्केट में जो क्लाइंट है वो मेरे लिए ही है तो मेरी ग्रोथ और मेरी चीजों में कोई दिक्कत है नहीं उसमें ओके और सर ये ये ना से अगर अपने को जो फंडिंग मिलती है उसमें खाली अपन साढ़े तीन तक स्प्रेड रख सकते हैं राइट हाँ हाँ जी हाँ, तो उसमें एनएचए हाँ, की अलग अलग स्कीम्स है दो तीन अलग अलग स्कीम्स है एक में तो साढ़े तीन परसेंट कर सकते हैं कुछ फ्री फ्लोटिंग भी है जिसमें आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगती है लेकिन आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं अच्छा तो जो साढ़े तीन वाला है वो अपन ज्यादा नहीं लेते होंगे क्योंकि अपन तो स्प्रेड ज्यादा रखते हैं ना हाँ वो साढ़े तीन परसेंट वाला मैंने अभी तक लिया नहीं है कौन सा साढ़े तीन परसेंट वाला जो केपिंग वाला है वो मैंने वो फंड लिया नहीं है से ओके ओके तो अपन हायर रेट पे ले रहे हैं जो अपन कोई भी रेट पे लैंड कर सकते हैं जी जी जी जी जी okay okay and sir uh, अपना लॉन्ग टर्म प्लान क्या है सर तीन या पांच साल में कितना अपने को ग्रो करना है दे, रखा है तीन साल का हमारा हजार करोड़ का लोन का जो है ना वो हमने टारगेट ले रखा है ओके तो इसमें सर क्या चैलेंजेस हैं what are the key things जो अपने को करना पड़ेगा to ensure that we reach this target इसमें चैलेंजेस की तो कोई है नहीं जिस तरह से अपन ग्रो कर रहे हैं जिस तरह से चल रहे हैं ना अपन सिस्टमेटिक तरह से ऐसे ही चलते रहेंगे इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो ऑटोमेटिक अचीव कर लेंगे उसमें कोई ज्यादा मेहनत करने वाली बात है नहीं सर तो खाली कंपटीशन कोई अगर एक्सेप्शनल आ गया एक साल बाद या दो साल बाद तो that will be only senior के बाद में कंपटीशन वाली बातें तो सब भूल ही जाओ सर कौन कंपटीशन करेगा सब बड़ी कंपनी बाद में सर किसके बाद अभी ऐसे जो बड़ी कंपनियां जो थी ना उनका भी अब जो स्पीड काफी कम हो गया है तो कंपटीशन वाला अच्छा। मामला तो कहीं रहा ही नहीं है sir okay okay right sir thank you very much you thank you thank you very much yes A reminder to all the participants, anyone who has questions may press star and one. The next question is from the line of Ronak Raichura, individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, sir, go ahead. Yeah. Okay. Uh, sir, uh, मेरा question अपना cost to income ratio पे था. Uh, our cost to income ratio has fallen significantly. Uh, it has gone to 38.57% versus some 56 uh, uh, a year ago. So, uh, sir, और आपने ये भी बोला कि हम लोग ने कुछ एक टेक्नोलॉजिकल रिवैम्प किया सृजन करके तो which is again uh, which will be uh, initially any uh, any technology that you uh, install will uh, involve a higher cost. So how is it that our cost to income ratios have fallen significantly, sir? और क्या ये सस्टेनेबल है हाँ एक्चुअल हाँ, हाँ, में जो उसमें कॉस्टिंग जो आया उसमें क्या है कि दिवाली का दिवाली वगैरह थी हम्म। दिवाली बोनस वगैरह से भी एम्प्लॉय को देते हैं तो इसलिए वो कॉस्टिंग जो अपना बढ़ा है उसमें नहीं सर हमारा कॉस्ट इनकम रेशियो कम हुआ गया कम हुआ उसमें दीपावली वगैरह आया था सबका बोनस वगैरह दिया था ना सर अच्छा सो ये सिंह लास्ट ईयर नहीं बड़े मिनट हाँ सर अगर मैं आपका लास्ट ईयर से एम्प्लॉय एक्सपेंस कंपेयर करूं तो एक्चुअली इट इज रीजन एक मिनट हाँ जस्ट uh, मिनट ऐसा है कि इसमें मैं आपको जवाब देता हूँ एक तो टेक्नोलॉजी था वो पिछले लास्ट ईयर में नहीं था तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी कुछ एक्सपेंसेस बढ़े हैं और पिछले दो महीने में कल हमने नए एम्प्लॉयज रखे हैं साठ के करीब हम्म। तो इसकी वजह से अपनी ये जो नहीं सर अगर मैं लाइन आइटम में जाऊं तो आपके other expenses has fallen big time आपका ये क्वार्टर में अदर एक्सपेंसेस आया है 142 लाख वर्सेस लास्ट दिसंबर 17 में आपका अदर एक्सपेंसेस सौ 213 lakh so what is fallen significantly in this other expense other expenses का जो कभी कभी एक्सपेंसेस जो है उसमें उसी क्वार्टर में बुक नहीं होता है एक्सपेंसेज इस क्वार्टर में होता है फिर अगले में नेक्स्ट क्वार्टर में आता है कुछ पेंडेंसी रह जाती है कुछ ये चीजें जाती तो ये क्या है एक्सपेंस वाला प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा आप तक अच्छा नहीं उस समय मान लो मैं जिस क्वार्टर में काम किया उसके नेक्स्ट क्वार्टर में बिल आ गए तो आपने उस समय एक्सपेंसिस बुक हो गया अब इस क्वार्टर में हमने काम किया और इसका नेक्स्ट मार्च में आएगा तो उस समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा राइट सो सो हाँ सो मेरा क्वेश्चन वही था सर तो ये जो 38 परसेंट थर्टी एट परसेंट अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो आया है वो टिपिकली अगेन नेक्स्ट क्वार्टर में वापस जंप हो जाएगा राइट हाँ ये थोड़ा बहुत बिल्कुल जंप हो जाएगा अबाउट या ओके सर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था अच्छा सर दूसरा के आ, सर जनरली अगर आप हमारे क्वार्टर का प्रेजेंटेशन देखें तो हमारा salary portion has increase now initially तो 15 परसेंट पर अभी हम 23 परसेंट सैलरी पोर्शन को दे रहे हैं salaried salaried people and are gross N P is also reason generally क्या होता है कि भाई as an when you disburse mall loans to the salaried guys your NPs ten to come down तो इसका कुछ बता सकोगे sir what is the reason of gross NPA rising year on year इसका जो सैलरी सैलरी देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब गांव में रूरल में हम जो काम करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि इसमें ये नहीं होता कि भाई सैलरी वाला कितना आ रहा है जितना हमारे पास में जो कस्टमर आता है ठीक है तो हमारा हमारा उसमें जो आता है तो उसमें वो नहीं देखा जाता कि भाई सैलरी वाला ज्यादा आ रहा है या उसमें बिजनेस वाला ज्यादा आ रहा है हम्म, हम्म। सैलरी वाला आता है उसको भी हम लोन देते हैं और बिजनेस वाला आता है तो लेते तो वो रेशो अपडाउन चलता रहता है उसमें इसमें हमारा फोकस नहीं है कोई सैलरी वाला आएगा तो हम उसको देना है और इसको नहीं देना है वो चीजें नहीं है ओके okay. उसकी वजह से रेशो अपडाउन होता है सर अच्छा बट सर तो ये आ, सर हमारा लास्ट ईयर ग्रॉस एनपीए से कंपेयर करें तो इस इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए बढ़ा है तो उसका क्या प्राइमरी रीजन हो सकता है हमारा लैप बुक भी बड़ा है इसके कारण होगा नहीं नहीं सर एक्चुअल में लैप और इसमें मार्केट का जो सिचुएशन है और जो भी मार्केट की पोजीशन है और उसके बाद में हमारा जो राजस्थान एमपी में इलेक्शन रहा तो लोगों का बिजनेस से बिजनेस थोड़ा अपडाउन रहा तो उसकी वजह से क्या है कि एनपी हमेशा अपडाउन रहते रहता है अच्छा अपन ये कह देंगे कि नहीं पहले पिछले साल जो पोजीशन थी और अभी एकदम चेंज नहीं हुई तो उन दोनों में डिफरेंस आता है तो आप कभी भी ये मान के चलो पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो अपडाउन हमेशा रहेगा रहेगा अब पिछले बार हमारा जैसे पहले दो परसेंट करीब था तो दो परसेंट के नीचे नीचे तक आप ये मान के चलो एनपीए रहना ही रहना कभी पॉइंट फाइव जीरो नीचे भी आ सकता है और कोई पॉइंट फाइव टू फाइव ऊपर भी रह सकता है एनपीए कभी भी आपका एक ही फॉर्म में नहीं रहेगा कोई एनपीए यही रहेगा हमारा अपन कभी भी उस चीज को नहीं कह सकते एनपीए रहेगा अच्छा एनपीए का ये भी नहीं है जब बहुत लोग बोलते हैं साहब सीजनिंग हो जाती है एक साल बाद में फिर एनपीए बढ़ता है ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है आदमी दस साल के लिए पांच साल के लिए सात साल के लिए लोन लेता है जब भी एक ऐसा नहीं को सात साल तक ही उसका बिजनेस से पैसा कमाएगा या सैलरी वाला है वो सब चीजें मेंटेन करेगा जब भी इसकी लिक्विडिटी क्रंच होती है घर में कोई बीमारी है कभी कोई चीजें कोई ऐसा चीज आ जाती है तो उसका दो तीन इंस्टॉलमेंट अप डाउन होता है तो आदमी एनपी में आ भी जाता है और एनपी से निकल भी जाता है correct correct correct okay sir दूसरा एक क्वेश्चन था सर हमारा अभी करंट का लेवरेज रेशियो क्या होगा मतलब Uh, uh, what will be our borrowings to capital ratio? We have about 4.5% करीब है, 4.5. times? Uh -huh. Okay sir ये कितना uh, uh, कितना हम लोग sir we are very clear के भाई by next next year we'll raise the capital तो ये कितना तक हम लोग we we are okay to leverage after which we will have to have equity dilution sir NHB की गाइडलाइन जो है उसमें 16 टाइम तक अपने को 16 गुना अपने को लेवरेज मिलता है हाँ नहीं वो तो हाँ but we'll not be comfortable लेकिन अपन ये मानते हैं जो एनबीएफसी का जो सीनियर है उसमें सेवन टाइम तक उनको लिवरेज मिलता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो भी हैं वो दस से बारह परसेंट के आधार लिवरेज से चलती है अच्छा तो अपन ये मान के चलेंगे अपना आज की तारीख में जो पचास करोड़ बावन करोड़ करीब अपना अभी कैपिटल है ठीक है ना तो अपन टेन दस गुना भी अपन चलते हैं जिसमें बैंक भी हो गया फाइनेंस भी हो गया एनसीडी भी हो गया सबको मिक्स करते हैं तो दस परसेंट दस टाइम तक अगर लिवरेज करते हैं तो भी अपन पांच सौ करोड़ की लोन बुक को इस पर लेके जा सकते हैं और जब पांच सौ करोड़ की लोन बुक होगी तो अपना पेट ऑलरेडी उसमें और एड हो जाएगा करेक्ट तो अपना कैपिटल जो है हमने जो हजार करोड़ की जो प्लानिंग कर रखी है वो इसी तरीके से कर रखी है और अभी वो भी हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किया था जो एक साल हो चुका है तो हम उसी तरह से इसमें ग्रो कर रहे हैं ठीक है so okay Fine fine sir I wait I wait in the queue Thank you. A reminder to all the participants, anyone who has questions may press star and one. The next question is from the line of Jogelkar Vidyadhar. Please go ahead, individual investor. Yeah. Vinod ji, congratulations for good performance. Thank you, thank you, sir. Yeah. ये अभी 20 तारीख को जीएसटी कमेटी का मीटिंग है उसमें शायद वो लोग जीएसटी कम करने वाले रेसिडेंस के ऊपर मतलब रेसिडेंशियल फ्लैट्स के ऊपर तो उससे अपना इसको कुछ अफेक्ट होगा क्या क्योंकि अपना लोन टिकट साइज छोटा रहता है एच जितना बड़ा नहीं रहता है सर मेरे एक्चुअल में क्या है कि जीएसटी वाला जो भी है सर इसमें तो हमारा वैसे भी जीएसटी से इतना फर्क नहीं पड़ता क्यों हमारा जो रूरल में और सेमी अर्बन में है तो उनको इतना इफेक्ट करता नहीं है ये जीएसटी वाला जो है जैसे बिल्डर है उनसे जो फ्लैट वगैरह लेती है उसमें जीएसटी ज्यादा लगता है तो इफेक्ट करता है हमारा जो हम जो लोन करते हैं ऑलरेडी जिनका प्लॉट खुद का खरीदा हुआ होता है और कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लेते हैं हाँ. तो मेरे न्यू परचेज वाले कस्टमर्स वैसे भी नहीं के बराबर है हमारे दो तीन परसेंट से ज्यादा हमारा न्यू परचेज वाला कस्टमर है नहीं तो जीएसटी का इफेक्ट तो हमको नहीं लगता बाकी इंडस्ट्री में बेनिफिट तो होगा अगर जीएसटी कम होगा तो लोग बात मकान को अपन खरीदेंगे करेंगे तो प्रिफरेंस तो मिल रही है क्यों जीएसटी की वजह से भी लगता है अगर मकान इतने रुपए का है दो तीन लाख रुपए अगर जीएसटी लगता है तो आदमी फ्लैट खरीदता ही नहीं वो बाद में रुक जाता है अगर थोड़े समय का वेट कर ले वो बेनिफिट वापस सिस्टम चालू हो जाएगा यस यस यस और एक पूछना था ये लास्ट टाइम आपने बोनस दिया था मेरे ख्याल से 2014 में तो अभी कभी कुछ देने का उम्मीद है सर नहीं वो बोनस शेयर दिया था सर हमने हाँ हाँ वही बोनस शेयर वैसा कुछ सर अभी तो चीज में हम डिस्कस नहीं करते हैं तो एजीएम में ही डिसाइड हो पाएगा क्या रहेगा तो उसका मैं जवाब भी दे भी नहीं पाऊंगा उसका ओके ओके और ये अपना हजार अपना जो था थ्री थ्री टाइम्स ग्रोथ अपना 2022 तक आप अचीव करने वाले हैं वो हो जाए हंड्रेड परसेंट लगता है साथ रहेगा तो क्या इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है सर नहीं I will wish you all the best thank you very much sir yeah yeah good day thank you very much A reminder to all the participants, anyone who has questions may press star and one. The next question is from the line of Karan Purohit, individual investor. Please go ahead. Good afternoon sir and congratulation on a good set of numbers मेरा सवाल फंडामेंटल्स uh, पे नहीं है क्योंकि fundamentals I think most of the questions answer हो गए मेरा सवाल more towards the liquidity of the stock है इन टर्म्स ऑफ मार्केट जैसे कि काफ़ी small size companies market makers की हेल्प लेती है in order to provide liquidity so that easy entry exit हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा कुछ प्लान है गोइंग फॉरवर्ड सर हमारा तो देखो क्या है कि हमारा स्टॉक मार्केट पे फोकस रहता नहीं है हमारा फोकस रहता है बिजनेस करने में ठीक है ये सब चीजें इन्वेस्टर आप जैसे लोग ही डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं हमारा रहता है हमको ग्रोथ कैसे करनी है हमको बिजनेस कैसे करना है हमको प्रॉफिट कैसे करना है ईपीएस e ज्यादा कैसे आता है हमारा फोकस इस पर रहता है तो मैं उसमें कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा ओके okay. और सर एक सेकंड क्वेश्चन है I think some time back preferential basis पे अलॉटमेंट किया था इन्वेस्टर्स um, uh, को जैसे कि रमेश रमेश दमानी जी है ऐसे कोई uh, ऐसे कुछ फ्यूचर में प्लान है in terms of getting giving some kind of अपना कैपिटल का प्लान है अपन एफपीओ की तैयारी कर रहे हैं हमने एफपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट भी कर दिया है मिस्टर आर्यमन कैपिटल वाले को हमारा डीआरएचपी भी 15 मार्च तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेबी में उसको फाइल कर देंगे दो तीन महीना होने के बाद में अपना जो ये मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट भी आ जाएंगे और जून जुलाई जुलाई के आसपास हमारा आपका एफ भी आएगा पचास करोड़ का वो पूरा प्लान है सर और प्रिफेंशियल इश्यू अगर उसके बीच में भी अगर कोई इन्वेस्टर अच्छे अगर कोई है और अपने को अगर वो चाहते हैं तो अगर अपनी बैठता है तो कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं ओके okay. और सर पता चल सकता है कि क्या अभी भी रमेश धमानी जैसे कोई बड़े इन्वेस्टर्स स्टेक है उनका कंपनी में या फिर वो डाइल्यूट कर चुके हैं में तो उनके पूरा ग्रुप का होता है जैसे कि कोई आते हैं तो उनके वो जो दमानी जी के साथ में दस बारह लोग पंद्रह लोग करीब थे उसमें ठीक है ना तो वो ग्रुप होता है तो ग्रुप आता और जाता है इस तरह से होता है अच्छा और एफपीओ में कितना परसेंटेज डायल्यूट होगा अपना इक्विटी ये उस समय की रेट पे डिसाइड करेंगे उसको अपन अभी आज अपन उसको चीज को डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय मार्केट क्या रहता है और लिस्टेड कंपनी है ठीक है तो बीएससी e और सेबी की गाइडलाइंस होती है कभी के बावन बावन वीक वाला होता है सात वीक का होता है तो उस समय जो रेट आएगी उसके ऊपर ही डिपेंड कर पाएगा उससे अपन नीचे नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर ही अपने को करना है correct make sense thank you sir thank you very much okay thank you sir thank you A reminder to all the participants, anyone who has questions may press star and one. The next question is from the line of Ronak Vaichura, individual investor. Please go ahead. Yes, sir. <clears throat> sir, my question was Now, uh, it's, it's a little off track. But, uh, sir, our average ticket size is about uh, 5 lakhs ke aspas hai, for housing loan. Now, uh, sir, aisa apne pa strategy wherein we will increase our uh, average ticket size and therefore get a higher growth. I mean, मैं क्या चाहता है एवरेज टिकट इस तरह से नहीं होता आप बीस लाख का मकान बना रहे हो और मेरे पास में आए सरकार मुझे तीन चार लाख का ही लोन चाहिए तो मैं आपको थोड़ी कहूंगा जबरदस्ती आप ज्यादा लोन लीजिए ये तो आपका कंपनी का स्ट्रेंथ है कि आपके पास कस्टमर अच्छी तरह से आपका फोकस है कि आपका एल रेशियो भी कम है और एवरेज टिकट साइज भी कम है तो एवरेज टिकट साइज अगर कम है तो आपका रिस्क जो है वो जीरो हो जाती है correct but so but you will have to accumulate that much more client ज्यादा बढ़ाएंगे ना इन्वेस्टिगेशन हाँ, की ये रहे तो उससे और अपने लिए अच्छा है ना राइट ओके ओके मतलब Like, uh, so the other way around is like the big companies are uh, like HDFC and all, which which focus उनका, on उनका वो big company है, उनके तो सब बड़े client हैं ना, 50 लाख, हम 20 लाख, 25 लाख से ज्यादा का loan ही देते हैं, तो हमारे पास कभी भी ticket size हाँ, बढ़ेगा ही नहीं। वो, वो अपना conscious decision ही है कि भाई we will always get into uh, uh, clientele which is within that uh, 5 to 15 lakhs range। का focus क्या है कि average ticket size भी छोटा ही है, हम तो चाहते हैं clientele ज्यादा हो और हमारा risk category में बटा हुआ हो। Correct, okay, okay. Okay, this is this is the question. Okay, sir. Thanks. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. A reminder to all the participants, anyone who has questions may press star and one. Ladies and gentlemen, you may press star and one if you have any questions. Yeah, Nita, I have one question. Go ahead, sir. Yeah. Yeah, Vinu sir, uh, good afternoon, Ritesh. Yes. Sir uh, ये सैलरीड क्लास जैसे अपना अभी 15 से 23 परसेंट हुआ है ओवरऑल बुक के अंदर सो इसमें जो न्यू सैलरीड क्लास आ रहा है या फिर ओवरऑल जो टोटल अपना सैलरीड क्लास है उसमें एलटीवी क्या रहता है वैसा कुछ आप लोग डेटा मेंटेन करते हैं एलटीवी तो सर सेम रेट एलटीवी अपन 50 परसेंट के आसपास नीचे काम करते हैं 50 परसेंट से ऊपर जाते ही नहीं है नॉर्मली इंडिविजुअल्स भी एलटीवी जो है किसी का पचास परसेंट से ऊपर नहीं जाते हैं ओके तो in the case of salaried employees also salaried employ हो या अपना बिजनेस हो सर अपना एल तो जो है वो पचास परसेंट से ऊपर जाते ही नहीं है sir okay and sir salaried class में जैसे अभी इतना एकदम से जो एट नाइन परसेंट का ग्रोथ आया है तो कैन यू शेयर कि what kind of the client profile from the salaried class we are getting and from with geography like from the the geography it is coming और from the from the also and uh, uh, uh, also and what no, can be the probable reason dono new location का भी है और पुरानी लोकेशन लोकेशन का भी है देखो सैलरी क्लास का अट्रैक्ट करना अपनी तरफ से तो सीधा सिस्टम में जहां अपन काम करते हैं वहां अपनी टीम अच्छी है अगर सैलरी वाला आपके इस रेट के अंदर अगर आपकी कंपनी में आ रहा है तो अपना प्रोसेस और जो कमिटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से है अपना ब्रांच वाला जो कमिटमेंट कर रहा है उतने टाइम में उसको काम करके दे रहा है उतना उसको लोन करके दे रहा है तो कहीं भी अगर लोन कमिटमेंट होता है तो सैलरी वाले वैसे भी नहीं आते हैं सर या वही मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि sir salaried class why is ready to pay that hefty twenty to twenty three percent rate of interest finance में सर सब जो चलता है वो ये चलता है कि आपका प्रोसेस का समय कितना कम है और आपके ब्रांच के जो कमिटमेंट है वो कैसे प्रॉपर है अगर वो दोनों है तो आपके पास में कोई भी क्लाइंट आएगा okay okay, okay okay. And sir salaried class का यूजुअली टेनियर क्या रहता होगा या सबका सिमिलर यही छह साल क्या टेनियर हम पांच से पांच साल सात साल दस साल तक दस साल तक हमारा मैक्सिमम टेनियर रहता है जितनी हमारी कैपिटल है उतना हम दस साल के लिए लोन करते हैं और बाकी जो हम बैंक वगैरह से लेते हैं तो जितना हमको टेन्यूर मिलता है पांच साल सात साल तो हम उसी के लिए करते हैं तो सबका टेन्यूर जिसको जितना पसंद है उस हिसाब से कर लेते हैं ओके ओके तो वही सर मतलब जैसे अराउंड टेन ईयर्स का भी अपन पकड़ते हैं और अपना जो छह लाख के आसपास का एवरेज टिकट साढ़े हाँ, छह लाख साढ़े छह लाख या तो अप्रोक्सीमेटली अपना पर मंथ का E M I is somewhere around ten eleven thousand types आएगा हम्म, बिल्कुल बिल्कुल राइट सो so, uh, जो सैलरीड क्लास आ रहे हैं उनके इतना सैलरी रहते हैं कि टेन इलेवन थाउजेंड का वो ई एम पे कर पा रहे हैं मतलब कौन सी जोग्राफी से basically if you can highlight sir actual में क्या सैलरी में पर्सन में क्या आप आप इंडिविजुअल को देख रहे हो लेकिन हम ये जब लोन करते हैं तो देखते हैं उसके घर में कमाने वाले कितने हैं तो पर्टिकुलर आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक आदमी कमा रहा है और घर वाले सब खा रहे हैं तो हर घर में दो तीन दो तीन लोग कमाते हैं ये तो सैलरी पर्सन तो क्लास में भी अपना जो क्लाइंट असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो सेम हाँ same okay okay it is not की केवल सैलरीड पर्सन के ही फाइल के ऊपर अपन लोन प्रोसेस करते हैं अपन तो सब करते हैं ना सब तो करते हैं Okay, okay. ठीक है sir. That's all from my side. Okay. Thank you. The next question is from the line of Deepak Podda from Sapphire Capital Partners LLP. Please go ahead. Uh, yeah, uh, thank you very much, sir, for the opportunity. Sir, uh, मुझे पूछना था uh, आपका अभी capital adequacy ratio thirty percent है and with the present capital of fifty crore अपने loan book five hundred crore तक इजीली जा सकते हैं सो so, अभी फिफ्टी करोड़ रेज करने का मतलब नीड क्या है उसमें आपका नीड क्या है सर कैपिटल है जैसे आपके पास में कैपिटल होगा तो ये नहीं है कि मैं उसको टेन टेन तक उसको टच करूंगा तब तक मुझे बैंक सपोर्ट करेगी क्यों एनबीएफसी में वगैरह में छह सात गुना तो है साइज जैसे जैसे बढ़ती है तो आपका लिवरेज भी ऐसे ऐसे आपका बढ़ता है जैसे मेरी कैपिटल बढ़ेगी तो लिवरेज भी उसी परसेंटेज में एक बढ़ता जाएगा तो इसलिए कैपिटल की तो अपने को जरूरत रहती रहती है राइट लेकिन अभी तो नहीं बेसिकली एक साल भी रुकेंगे तो चल जाएगा राइट आप एक साल रुकेंगे सर एक्सपांशन जब चलता है आदमी की जब स्पीड बनती है जब आपकी पूरा टीम या आज मेरे पास ढाई लोगों की टीम है वो हजार करोड़ की उसको चीज को उस टारगेट को लेकर चल रही है तो मैं कैपिटल का इंतजार थोड़ी करूंगा जिस समय मुझे कैपिटल चाहिए उस समय मेरे को मिल ही जाएगा एडवांस तो में अपने को प्लानिंग करनी पड़ती है जो प्रिपरेशन अपने को एक साल बाद चाहिए तो उसका एक साल पहले प्रिपरेशन करते हैं तो अपन अपने टारगेट को आराम से अचीव कर पाते हैं हम्म, हम्म, हम्म, उस समय प्रेशर नहीं रहता उन सब चीजों का ओके okay, हाँ, हम, हम हमारा जो भी गोल डिसाइड करते हैं तो हमारा एवरी एम्प्लॉय आप मेरे किसी भी एम्प्लॉय को भी पूछ लोगे ना टारगेट क्या है तीन साल का तो बता देगा क्या है और उसी पे से वर्क करते हैं हम्म। और उनको ये मॉडल भी मालूम है कब क्या होना है क्या नहीं होना है क्लियरिटी तो है वो हर पूरे टीम मेंबर्स को सबको रहता है Understood. Sure. That's it from my side. Thank you. Ladies and gentlemen, you may press star and one if you have any questions. The next question is from the line of Varun Fortdar, individual investor. Please go ahead. Hello. Adi Raji, sir. Uh, thank you, sir. Uh, I just wanted to ask uh, with regards to the history of the company. तो मुझे asked था कि आपका जो कंपनी है वो 2002 में NHB mila tha. So, uske baad, uh, what was the, why did it take so long to increase the loan book and basically क्या हो रहा था उसके बीच में 2002 से 2014 तक हम्म। ठीक है मैं अभी फोन पे तो आपको पूरा इतना लंबा डिटेल नहीं बताऊंगा लेकिन आप मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा 2002 से लेकर 2012 तक हमारी जो कंपनी एनएचबी से जो हमको लाइसेंस मिला था उसमें इतना समय इसलिए लगता था कि स्टार्टिंग में कभी कंपनी को किसी भी बैंक्स में अगर हम पैसे के लिए जाते थे तो हमसे hundred percent call letter D और हमसे एक सौ दस बीस टाइम हमसे कॉल लेटर सिक्योरिटी मांगी जाती थी अच्छा वो उस कंपनी में कोई भी प्रमोटर के अलावा कोई दे नहीं सकता है तो हम उसकी करते करते वहां से हम जो है 2000 हमको 10 साल दस हो गया कंपनी को बड़ा करते करते कॉलेटर सिक्योरिटी के बिना होता नहीं था फिर फिर 100 परसेंट हुआ फिर उसको बढ़ते हुए तो फिर 80 परसेंट कॉलेटर सिक्योरिटी आया फिर 60 आया फिर 50 आया इस तरह से कॉलेटर सिक्योरिटी हमको मेंटेन करनी पड़ती थी और मैनेज करके हमको देना पड़ता था फिर हमारा 2012 में हमको जो मैनेजमेंट है वो कर दिया था कैपिटल आपकी जो है दस करोड़ होगी तो ही आप आगे काम कर पाएंगे तो हम 2012 में फिर पब्लिक इश्यू लेके आए थे तो हमारा कंपनी 10 करोड़ से ऊपर हुआ था फिर 2015 में मेन बोर्ड पे आए तो जर्नी के अंदर इसलिए अपना समय लग जाता है उस समय आपको स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं मिलता उसके बाद में जब पब्लिक इश्यू लाए तो हम एक बैंक से निकल के फिर हमारी रेटिंग्स भी अपग्रेड हुई रेटिंग अपग्रेड हुई तो हम मल्टीपल बैंकिंग में आए और दूसरा हमारे पास कोई ऐसा बड़ा आ, पीछे आ, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी हम किसी बड़े हाउस से आए हैं तो हमको फटाफट इमीजिएट कम्फर्ट लेटर दिया और आपकी रेटिंग बढ़ गई और फर्स्ट दिन से आप दौड़ने लग गए कर ले तो हमको स्ट्रगल काफी उस चीजों में करना पड़ा और वो हमारे लिए बहस भी बहुत अच्छा रहा हर काम हम अपने हाथों से करते थे कलेक्शन से रिकवरी पीडी करना क्रेडिट करना क्लाइंट से मिलना चाहना करना वो आज एक्सपीरियंस जो हमारे लिए बहुत मजबूत स्थिति में हम खड़े हैं तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए हो सकता है दस साल हमारे लिए स्लो रहा है लेकिन नेक्स्ट टेन ईयर हमारे लिए बहुत अच्छे हैं Yes, sir, that's absolutely right. I wish you all the best for that. Sir, एक और question था उस, uh, regarding uh, uh, your history, sir. आपका हमेशा से आपका interest housing finance में था, your, your business interest? हमें इंटरेस्ट हाउसिंग एक्चुअल में क्या होता है हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट हमारा रहा है हम ये चाहते हैं कि भाई जहां तक गवर्नमेंट और जहां तक बड़ी फाइनेंस कंपनी बैंक्स नहीं पहुंच सकती है वो बेचारा वहां पे लोकल एरिया में पांच परसेंट दस परसेंट तक इंटरेस्ट देते हैं तो हम उनको सिस्टम में लाना चाहते हैं ताकि उनका प्रॉब्लम उसकी प्रोग्रेस वगैरह वो बढ़े और डेवलपमेंट है तो ये इंटरेस्ट रेट जरूर हायर है लेकिन ये उससे पांच पांच गुना इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रहे हैं वहाँ पे वो सिस्टम में आने की वजह से क्या उनकी प्रोग्रेस भी बढ़ती है और अच्छी दुआएं भी मिलती है अच्छे काम भी होते हैं तो वो अच्छा लगता है okay okay okay thank you sir that's all for my side thank you thank you very much As there are no further questions, I now hand the conference over to Mr. Ritesh Barjatia for closing comments. Yeah. Uh, thanks, Niro. On behalf of the Asian market, we would like to thank all the participants for participating in the call. Also, a special thanks to Mr. Vinod Jain for giving a detailed industry scenario and quarterly performance of SRG Housing Finance. Sir, any closing remark from your side you want to make? No, oh, no, no, sir. Okay, so on behalf of MSEC, we Sunena, would come. Sunaina, yeah, yeah, Sunaina. So, Call will be over to you, Sulena. Thank you. Thank you all for taking out time today to attend this call. Your feedback is most welcome. You can contact us on the mail ID provided in the investor presentation. Thank you again. Have a happy Valentine's Day. Thank you.